द्वितीय मुंडक में द्वितीय खंड द्वितीय मंत्र कितने हुआ था यह था अच्छा हाँ, हाँ। अज दिव्य ह्यमृत पुरुष सबाह्याभ्यंतरो यज अज अजो का न जायते कुतचित स्वतः अन्य जन्म निमित्त से कुतश्चि न जायते स्वतः न जायते अपने आप तो नहीं अन्य से जन्म नहीं होता है क्योंकि अन्य से जन्म निमित्त से च अभाव जन्म का निमित्त तो कोई दूसरा है ही नहीं जन्म निमित्त हो तो जन्म होगा यथा जल बुद्ध उदादेर वायु आदि जल बुद्ध आदि जल में बुद्ध बुद्ध उत्पन्न होता है वायु से निमित्त है तो उत्पन्न होता है किंतु पुरुष ब्रह्म जन्म नहीं होता है कोई जन्म का निमित्त दूसरा है ही नहीं यथा नभ सुशिर भेदा नाम घटादि नभ में सुशिर छेद आकाश होता है नभ है आकाश उसके छिद्र भेद अलग अलग है घटादि के कारण अलग अलग आकाश हुआ नाम जन मूलत्वात् तो ब्रह्म के लिए ऐसे कोई निमित्त है ही नहीं घट आदि होने से आकाश का तो भेद होगा आकाश घट समान सत्ता ही ब्रह्म के समान सत्ता के ऐसे कोई पदार्थ नहीं भेद होने में कोई निमित्त नहीं है और जो कहा जाता है उपाधि भेद से उपाधि भी कल्पित है इसलिए अन्य जन्म घट के कारण आकाश में घटा आकाश आदि की उत्पत्ति घट उत्पत्ति से ऐसे कहा जाता है किंतु ब्रह्म में इसे उत्पत्ति होने के कोई निमित्त दूसरा है ही नहीं जन्म का निषेध कर देने से टीका में देहापेक्षा ये हो गया था यद बाह्यम आंतरम च प्रसिद्धम तेन तत्तादात्म्यन तदधिष्ठानतया वर्तते थे सबाह्य व्यंतर बाहर अंदर तत्तादात्म्य तदिष्ठान होकर के ही ब्रह्म इसलिए सर्वात्मक हुआ तद व्यतिरिक्त निमित्त अभावात अजैत्यत उससे भिन्न सर्वात्मक ब्रह्म हुआ उससे अतिरिक्त कोई निमित्त नहीं उनसे अजन्मा छह विकार का नाम दे दिया जायते अस्थि वर्धते विपरिणमते अपेक्षत विनश्यति जन्म से प्रारंभ होता है एवं आदि भाव विकाराणाम निषेध तात्पर्य अज शब्द से आह ये जो भाव विकार है छह विकार है एवं आदि भाव विकारण इस प्रकार आदि अन्य जितने और विकार बीच मध्य में होता है प्रतिक्षण परिणाम होता रहता है सबका निषेध में तात्पर्य अजय शब्द का जन्म नहीं तो तत्पश्चात भाव विकार नहीं होगा सर्वभाव जनी जनिमूलत्वात् तत्प्रतिषेधन सर्वे प्रतिषिधा होती जितने विकार है उत्पत्ति मूलक जन्म हो तो आगे कोई विकार होगा जन्म का निषेध कर देने से ही सर्वे विकारा प्रतिष्ठिता होते सबका प्रतिष्ठित हो जाएगा सबाभ्यंतरो यजो अंदर बाहर सब एक ही आत्मा है अजन्मात्म तत्व ही अतो अजरो अमृतो अक्षर ध्रुव अभय इतर्थ जना नहीं होने से अजरा है जरा नहीं अमृत है अक्षर विनाश नहीं ध्रुव है नित्य स्थिर है अभय पद है टीका में जीवा प्राणादि सत्वा तदात्मत्व प्राणादिमत्व प्राप्त तनिवर्तयति जीव प्राण धारणे प्राण जीवति जीव प्राण धारण करने वाले को जीव कहते हैं तो प्राणादि तो है प्राण मनादि है जीव से ब्रह्म अभिन्न है तदात्मत्व ब्रह्मण जीव से अभिन्न है तो ब्रह्म में भी प्राणादिमत्व प्राप्त होता है उसकी निवृत्ति के लिए निषेध करते यद्यपि भाष्य में यद्यपि देहादि उपाधि भेद दृष्टि नाम अविद्यावसा देह भेद सप्राण समनाश इंद्रिय प्रत्यय प्रत्यभाषते तलमलादिव इव आकाशम तथा तो स्वतः परमार्थ दृष्टि नाम अप्राण अभि अप्राण अमन यद्यपि भाष भान होता सप्राणिव भाषते देहादि उपाधि भेद दृष्टिनाम देहादि उपाधि उपाधियों का भेद है उपाधि भेद दृष्टा उपाधि भेद दृष्टि शाम उपाधि भेद से ही जिनकी उसी दृष्टि से देखते हैं अविद्या अवसाद अज्ञान के कारण देह भेदेशु देह अलग अलग है सब में सब प्राण प्राण प्राणी सहित सब प्राण मनसा सहित समना इंद्रिय सहित सेन्द्रिय विषय ही सह इति सविषय इव प्रत्यभाषते आत्मा उपाधि देह वेद में सप्राण जैसे सप्राण इव समना इव सेंद्र इव सविषय भान होता है ऐसे कैसे भान होता है दृष्टान्त तलमलादि मद इव आकाशम आकाश एक ही है शुद्ध है ऐसे तलमल तल है कटाकार उल्टी कर कढ़ाई रखा गया मल है मैला धूल आदि मेघ आदि काला तलमल आदि कभी आदि से तो घटमठ आदि उपाधि के कारण ऐसा है नहीं परिचिन्न नहीं होता है तलमल आदि व मद इव आकाश जिस प्रकार तलमल आदि वध भान होता है उपाधि दृष्टि में भेद दृष्टि अज्ञान के कारण इसी प्रकार आत्मा एक है सभा है भ्यंतर अजन्मा एक है और उसमें कोई भेद नहीं है तो भी देहादि उपाधि भेद में अलग अलग भान होता है भेद दृष्टि वाले के लिए देह भेद में सप्राण समना सब विषय से भान होता है तो भी तथापि तो स्वतः परमार्थ दृष्टि नाम अप्राण स्वतः वस्तुतः प्राण नहीं है परमार्थ दृष्टि परमार्थ दृष्टि ये शाम परमार्थ वस्तु को जानने वाले जी को परमात्मा वस्तु को जानते उन देखते शुद्ध चिन्ह मात्र है उससे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं सब अध्यस्त है तो उसमें की दृष्टि से कोई प्राण आदि पदार्थ कुछ है ही नहीं अप्राण अविद्यमान प्राण यश्य अविद्यमान प्राण है क्रियाशक्ति भेदवान क्रियाशक्ति भेद वाला प्राण और चलनात्मक वायु क्रियाशक्ति भेद और चलनात्मक वायु जिसमें है ही नहीं अविद्यमान यस्मिन असु अप्राण पर ब्रह्मात्मा अप्राण ये तथा अमन अविद्यमान मनु यस्य अनेक ज्ञान शक्ति भेद संकल्पादि आत्मक अभी अविद्यमान यस्मिन स्वयं अमना अनेक ज्ञान शक्ति भेदवत ज्ञान शक्ति भेद वाला ज्ञान शक्ति शक्ति भेद वाला अनेक प्रकार ज्ञान आदि है इच्छा आदि है संकल्प आध्यात्मक मन है संकल्प विकल्पात्मक मन है उसमें शक्ति है ज्ञान के लिए शक्ति मन में वृत्ति होकर ज्ञान होता है टीका में दिया स्मृति संशयादि अनेक ज्ञानसु शक्ति विशेष हो अस्य अतिथि तत्वोत्तम शक्ति मत शक्ति भेदवत स्मरण भी ज्ञान है संशय भी ज्ञान है आदि से ब्रह्म स्मृति संशय आदि अनेक ज्ञानेशु अनेक प्रकार ज्ञान है ज्ञानेशु का अर्थ ज्ञान के अनुकूल शक्ति ज्ञानेशु शक्ति ज्ञान में शक्ति मतलब ज्ञान विषयक शक्ति ज्ञान के अनुकूल शक्ति स्मरण संशय भ्रम यथार्थ ज्ञान अनुकूल शक्ति विशेष मन में है मन में घटाकार पटाकार वृत्ति होती है स्मरण होता है संशय होता है ब्रह्म होता है यथार्थ ज्ञान होता है शक्ति विशेष अस्य अस्ति जिसमें है शक्ति मद शक्ति भेदवत हुआ अनेक ज्ञान शक्ति भेदवत मन है भाष्य में मनो अभी अविद्यमान यस्मिन सोए मन अप्राणो ह्यमनाश्च अप्राण भी है और अमना भी है आत्मा ये प्राणादि वायु भेद कर्मेन्द्रियाणी तद विषयाश्च तथा च बुद्धि मनसी बुद्धि इंद्रियाणी तद विषयाश्च प्रतिषिद्धा वेदितव्या अप्राण अमना कह करके प्राण मन का निषेध कर देने से प्राण रजोगुण का कार्य है तो प्राणादि वायु भेद प्राणपान व्यान आदि का निषेध और रजो अंश से कर्म इंद्रिय की उत्पत्ति उनका विषय तथा से बुद्धि मनसी अमनाकरण से मन बुद्धि अंतकर्ण निषेध हो गया बुद्धि मनसी और सत्वगुण के कार्य ज्ञान इंद्रिय उनका विषय सब का प्रतिषेध हो जाता है प्राण से के बिना कोई कार्य कर्म नहीं होगा व्यापार नहीं होगा अंतकर्ण के बिना ज्ञान इंद्रिय का कार्य नहीं होगा तो ये सब का निषेध हो जाता है तथा चुत्यंतर अन्यत्र स्पष्ट रूप से कहा है ध्यायतीव लेलायतीव वस्तुतः आत्मा में ध्यान करना चलना कुछ नहीं है उपाधि के धर्म उसमें दिखता है ध्यायती जैसे चलता जैसे बुद्ध्याम ध्यायंत्याम आत्मा ध्यायती बुद्धि में स्थिरता होने पर आत्मा स्थिर हो गया बुद्धि में चांचल्य होने पर आत्मा में चांचल्य दिखता है जिस प्रकार जल में कंपन होने पर प्रतिबिंब जब में चंद्र आदि आकाश आदि में कंपन दिखता है जल स्थिर हो गया तो प्रतिबिंब स्थिर हो गया ध्यायती वास्तव नहीं ध्यायती इव लीलायती इव कह करके आत्मा में ऐसा लगता है वास्तव है ही नहीं यस्माच एवं प्रतिषिद्ध उपाधि द्वेष तस्मा शुभ्र शुद्ध दोनों प्राण मन दोनों का निषेध कर देने से <clears throat> प्राण का निषेध करने से अन्य कर्मेंद्रिय विषय ज्ञान इंद्रिय विषय सबका निषेध हो गया ये सब विषय से ही अशुद्ध होता है अंतकरण ये सब आत्मा में है ही नहीं निषेध कर देने से शुद्ध शुभ्र हो गया प्रतिषिद्ध उपाधि द्वय प्रतिषिद्धम उपाधि द्वयम यस्मिन आत्मनिश दोनों उपाधि का प्रतिषेध करने से शुद्ध हो शुभ्र हो गया शुद्ध अतो अक्षरा नाम रूप बीजोपाधि रक्षित स्वरूपाध सर्व कार्य कारण बीजत्व उपलक्ष्यमाणत्वाद परम प्राणो यमना शुभ्रो यक्षरात परत पर अक्षरात पर नाम रूप बीज उपाधि लक्षित स्वरूपात नाम रूप का बीज बीज उपाधि है उपाधि से लक्षित जो स्वरूप है सर्व कार्य कारण बीजत्व उपलक्षमाणत्वात् सर्व कार्य कारण बीजत्व जितने मिट्टी घटा आदि कार्य कारण सब का बीजत्व उपलक्षित होता है परम तदुपाधि लक्षणम अक्षर पहले अक्षर है पर अक्षर से अक्षर पर उससे भी पर अक्षरात परत पर पहले अक्षर को पर कहते अक्षर उपाधि स्वरूप अव्याकृतम अव्याकृताख्यम अक्षरम जो अव्याकृत है माया है वही अक्षर हुआ क्योंकि अपने से जितने भिन्न पदार्थ अक्षर माया है बीज नाम रूप बीज उपाधि से लक्षित होता है स्वरूप अक्षर है और जितने सब कार्य कारण सब उत्पन्न होते सब का बीज है माया तत्व माया को छोड़कर बाकी जितने कार्य कारण सब का बीज है अक्षर हो गया अभ्याकृत अव्याकृताख्यम अक्षरम माया है ये पर किससे पहले कहा परम उपलक्ष परम परम कस्मात व्य उसका अन्य उसके साथ परम व्य अक्षर परम पर अक्षरम परम सर्वविकारेभ्य सारे कार्य से परे अक्षर उपाधि लक्षण अव्याकृतम अक्षरम सर्व विकारेभ्य उसका अन्य किसके साथ परम पहला आया सारे कार्य से पर है ये अक्षर हो गया पर तस्मात परतु परम अक्षर है पर पर हो गया तस्मात परत जो तत्व से लिया अक्षर वही हो गया पर उससे तस्मात परत अक्षरात तस्मात परत अक्षरात सब तीनों समानाधिकरण है तत्पर से लिया वही पर है और वही अक्षर है अक्षरात परत परम पर हो गया निरुपाधिक पुरुष अक्षरात परत परमे अक्षर से पर कौन हुआ अक्षरात परत परत जो पर कहा किसके लिए हाँ अक्षर ही पर है उससे पर है परमात्मा अक्षर पर किससे सर्व कार्य सब कार्य से सारे कार्य से पर हो गया अक्षर ये अक्षर क्या ब्रह्म है या अव्याकृत कौन है माया है उसको अक्षर क्यों कहा ज्ञान के बिना उसका नाश नहीं होता है एक केवल ज्ञान से इसलिए अक्षर माया कुटस्थ अक्षर उच्चते गीता में आया अभी टीका में है उससे पर हो गया निरुपाधिक स्वरूप टीका में नाम रूप उपाधि लक्षित स्वरूपात भाष्य माया नाम रूप और बीजम ब्रह्म नाम रूप का बीज हो गया ब्रह्म तस्य उपाधितया लक्षितम ब्रह्म का उपाधि नाम रूप बीज उपाधि नाम रूप का बीज कारण हो गया ब्रह्म उसके उपाधि उसकी उपाधि नाम रूप का बीज कहीं कहीं नाम रूप बीज माया को भी कह देते किंतु नाम रूप बीज उपाधि लक्षित नाम रूप बीज है ब्रह्म ब्रह्म की उपाधि ब्रह्म तस्य उपाधितया लक्षितम उपाधित्व लक्षित हो गया माया तत्व क्यों उपाधित्व लक्षित क्यों हुआ शुद्ध से कारणत्वानुपत्या गमितम लक्षित का तो गमितम ज्ञापितम शुद्ध ब्रह्म कारण नहीं हो सकता है निर्धारम कर निष्क्रिय ही और जगत कारण होने के लिए उसमें ज्ञापित तो होता है गमित तो होता है माया तत्व तो उपाधि उपाधि विशिष्ट होकर के कारण होगा शुद्ध से ब्रह्मण कारण तो अनुभवत्या गमितम लक्षितम का तो गया गमितम ज्ञापितम ऐसे स्वरूपम अश्यति तथोक्तम माया ज्ञापितम स्वरूपम माया अव्याकृत स्वरूपम अस्य स्वरूपम अस्य माया अव्याकृत तत् अव्याकृतम अक्षरम तथोत्तम का अर्थ उपाधि लक्षित स्वरूपम का तथा उक्तम तथा यदि क्या कहा गया उपाधि लक्षित स्वरूपम भाष्य में आया नाम रूप बीज उपाधि लक्षित स्वरूपात उपाधि लक्षित स्वरूपम उपाधि लक्षितम स्वरूप से उपाधि उपाधि उपाध्या उपपत्तिया तस्य उपाधितया गमितम स्वरूपम उपाधित्व लक्षित हुआ जिसका स्वरूप उपाधित्व लक्षित हुआ ज्ञापित हुआ किसका स्वरूप अक्षर अक्षर उपाधितया लक्षित उपाधित्व उपाधि रूप से ज्ञापित हुआ अव्याकृत का स्वरूप क्योंकि शुद्ध ब्रह्म कारण नहीं हो सकता है जगत कारण होने के लिए उसकी कोई उपाधि चाहिए उपाधि रूप से ज्ञापित हुआ स्वरूप माया तत्व का तथोक्तम उपाधिलक्षित स्वरूपम उपाधिलक्षित स्वरूपात परम उपाधिलक्षित स्वरूप है पर तस्मात् उपाधि रूपात तविशिष्ट रूपाच पर तो अक्षरात पर संबंध तस्मात् का अर्थ हो गया उपाधि रूप है उपाधि रूप से पर है उपाधि स्वरूपम अव्याकृत स्वरूप अक्षर है उससे पर तद विशिष्ट रूपाच तद विशिष्ट क्या है उपाधि विशिष्ट उपाधि से भी पर उपाधि विशिष्ट उपाधि विशिष्ट कौन से जो विशिष्ट होगा विशेषण युक्त होने से विशिष्ट होता है विशेषण से पर होने से विशेषण विशिष्ट विशिष्ट रूप से भी पर है उपाधि विशिष्ट है ईश्वर उससे भी पर है माया विशिष्ट से भी पर है शुद्ध माया से तो पर है और माया विशिष्ट रूपाच विशिष्ट भी सब कार्य से पर है सर्व विकार में परम विशिष्ट भी पर है यहाँ पर के लिए उपाधि उपाधि विशिष्ट ये सब पर उससे भी पर हो गया ब्रह्म अक्षरात तो अव्याकृत शब्द से केवल माया और माया विशिष्ट चैतन्य दोनों लेना उपाधि रूपात तद विशिष्ट रूपाच परतः पर तो अक्षर शब्द से उपाधि लेते हैं तद विशिष्ट रूप भी ले सकते हैं माया विशिष्ट चेतन वो अभ्याकृत शब्द से उपाधि प्रधान से माया को कहते हैं उपहित प्रधान से माया विशिष्ट चेतन ईश्वर को भी कहते हैं ये कारण है तो उपाधि रूपा तद विशिष्ट रूपा च उपाधि रूप हो गया माया है अव्याकृत अक्षर तद विशिष्ट हो गया माया विशिष्ट चेतन ईश्वर ये सब कार्य से पर है उससे भी पर है शुद्ध कथम माया तत्व से अक्षर से परत्व इत आकांक्षायाम आह माया तत्व अक्षर है वो पर कैसे हुआ इसलिए कहा सर्व कार्य कारण अत्यन उपलक्ष्य मानत्वाद कार्य कारण का बीज रूप से उपलक्षित होता है इसलिए पर हुआ माया कार्य ही अपरम प्रसिद्धम कार्य तो निकृष्ट होता है कारणों से पर होता है सर्व कार्य के से कारण तत्कारण न गम्य मानत्वाद सर्व कार्य कारण बीज तेन सर्वेशा कार्याणाम कारण रूपम यद बीजम सर्व कार्य कारण कार्यम च कारण चैसा नहीं लेकर के सर्वेशा कार्याणाम कारणम यद बीजम तद्रूपेण उपलक्षित होता है माया कार्य अपर हो गया तत्कारण तेन गम्य मानता तो माया तत्व परम सारे कार्य का कारण उपलक्षित हुआ माया तत्व पर हुआ पर है माया तत्व तो अक्षर उसे भी पर है परमात्मा वो अक्षर अक्षर क्यों कहा यौक्तिक बाधात अनिर्वाच्यते भी स्वरूपोच्छेद अभावात अक्षरम युक्ति से उसका बाध होगा असत्य असत्यन उभय न सच्चे न बाध्यत असत्य न प्रतीत उभय रूप असंभव बाध हो जाता है माया तत्व तो वास्तव है ही नहीं इसलिए अनिर्वाच्य उसको कहते सत्य नहीं असत्य उभय नहीं अनिर्वाच्य है तो भी जब तो ज्ञान नहीं होता उसका स्वरूप उच्छेद नहीं होता है स्वरूप उच्छेद अभाव अक्षरम अक्षर कहा कि तदुतम गीतायाम क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्तु अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मे त्युदाहृत द्वाभिम पुरुष लोके क्षर से अक्षर क्षर अक्षर दो पुरुष राशि समूह है क्षर और अक्षर क्षर क्या है स्वयं भगवान कहते सर्वाणी भूतानी सारे भूतानी भवंते भूतानी कार्य जितने क्षर है विनाशी और कूटस्थ है माया अक्षर उनका कारण कार्य अलग कारण है अक्षर और कार्य कारण से विलक्षण उत्तम पुरुषस्तु अन्य कार्य कारण दोनों से विलक्षण उत्तम पुरुष परमात्मा इति उदाहरत शास्त्र में परमात्मा इसे कहा गया भाष्य में परो निरुपाधिक पुरुष यस्मिन तदा आकाशाख्यम अक्षरम सब सव्यवहार विषय ऊतम प्रोतम च जिस ब्रह्म में तद आकाशम आकाश हो गया अव्याकृत आकाशक्यम आकाशाख्यम अक्षरम आकाश अव्याकृत आकाश अक्षर है सव्यवहार विषय व्यवहार का विषय होता है व्यवहार शब्द नाम और नाम शब्दात्म विषय का तो रूपम व्यवहार हो गया नाम विषय हो गया रूप नाम रूप विशिष्ट माया तत्व ऊतम प्रोतम च ऊत प्रोत है दोनों नाम रूप विशिष्ट माया तत्व जिसमें अध्यस्त होता है वो अक्षर से भी पर हुआ कथम पुनर्प्राणादिमत्व तस्य इति उच्यते जो शुद्ध ब्रह्म है अमृत दिव्य पुरुष है वो अप्राण अमन कैसे हुआ उसका उत्तर देते हैं यदि प्राणादय प्राग उत्पत्ति पुरुष इव स्वेन आत्मना सन्ति तथा पुरुष से प्राणादिना विद्यम न प्राणादिमत्व भवेन न तो ते प्राणादय प्राग उत्पत्ति पुरुष इव स्वेन आत्मना सन्ति अतः प्राणादिमान पर पुरुष यदि प्राणादय प्राग उत्पत्ति उत्पत्ति के पहले पुरुष रहता है किसकी उत्पत्ति होती मैं हाँ, प्राण आदि की सब कार्य की ये कार्य प्रपंच जिसकी उत्पत्ति उसके पहले पुरुष है प्राग उत्पत्ति सृष्टि के पहले पुरुष जैसे रहता है इसी प्रकार यदि उत्पत्ति है प्राग प्राणादय स्वयं आत्मना संति सर्वपत प्राणादि यदि होते तदा पुरुष से प्राणादिना विद्यमान न प्राणादि मतम भवेद तो पुरुष प्राणादि वाला होता यदि उत्पत्ति के पहले सृष्टि के पहले प्राणादि होते तो पुरुष है प्राणादि है तो प्राणादि विद्यमान प्राणादि ना प्राणादिमत्व पुरुष से भवेद पुरुष में प्राणादि होता यदि विद्यमान हो न तो ते प्राणादि है प्राग उत्पत्ति है पुरुष एवं स्वयं आत्मना प्राणादि जितने कार्य प्रपंच उत्पत्ति के पहले पुरुष जैसे रहता है इसी प्रकार स्वरूप तो स्वयं आत्मना न संति स्वयं आत्मना न संति कैन रूपेण सन्ती प्राणादि आत्मा न सन्ति स्वयं आत्मा प्राणादि आत्मा न सन्ति सदरूपेण सदरूपेण सत्कार्यवाद सद ब्रह्म रूप सदरूपेण प्राणादि सदरूप ब्रह्म रूप से है ब्रह्म से भिन्न कोई स्वय रूप स्वरूपेण नहीं है स्व स्वयं आत्मा प्राणादि रूप से नहीं है प्राणादि रूप से अलग होते तो पुरुष प्राणादिमान होता ऐसा नहीं होने से अत प्राणादिमान पर पुरुष प्राणादिमान नहीं न प्राणादिमान इति अप्राणादिमान प्राणादिमान नहीं है यथा अनुत्पन्न पुत्रे अपुत्र देवदत्त पुत्र उत्पत्ति के पहले देवदत्त अपुत्र था क्या या सपुत्र अनुत्पन्न पुत्र अपुत्र इसी प्रकार प्राणादि उत्पत्ति के पहले पुरुष प्राणादिमान था अप्राणादिमान था कथम थे न संति प्राणादे उच्यते प्राणादि क्यों नहीं है उत्पत्ति के पहले इसका उत्तर देते हैं ये तस्मा जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रिया च खम पृथ्वी विश्व धारिणी ये तस्मात् पुरुषात् परमात्मा से प्राणो जायते मन जायते सर्वेन्द्रिया जायते खं वायु पृथ्वी पांच भूत पृथ्वी का विशेषण विश्व धारिणी विश्व को धारण करने वाले अवश्यम दधाती विश्व को धारण करने वाले टीका में यदेव चैतन्यम निरुपाधिकम शुद्धम अविकल्पम ब्रह्म यह तत्वज्ञाना जीवानाम कैवल्यम तदेव माया प्रतिबिंबित रूपेण कारण भवती त्याह यदेव निरुपाधिकम चैतन्य शुद्धम जो निरुपाधिक चैतन्य शुद्ध है अविकल्पम विकल्प वर्जितम नाम रूपादि रहते शुद्ध ब्रह्म यत तत्वज्ञाना जीवानाम कैवल्यम यस्य तत्वज्ञानात् तत्व साक्षात्काराद जीवों का कैवल्य मोक्ष होता है वही चैतन्य तदेव माया प्रतिबिंबित रूपेण कारण भवती वही चैतन्य माया प्रतिबिंबित माया में प्रतिबिंबित हो गया उसका नाम ईश्वर हो गया वही कारण होता है जगत का यस्माद तस्माद शुद्ध ब्रह्म कारण नहीं हो सकता है वही शुद्ध ब्रह्म ही माया प्रतिबिंबित तो हो करके आभास एवच सूत्र है आभास ही जैसे प्रतिबिंबित तो होकर के कारण यस्माद ए तस्मादेव पुरुषात वही कारण होता है पुरुष से ए तस्मा जायते प्राण शुद्ध ब्रह्म से तो उत्पन्न नहीं होगा किंतु शुद्ध ब्रह्म माया में प्रतिबिंबित तो हो जाने से वही कारण हो जाता है प्रतिबिंबित तो कौन से वास्तव कारण सत्य नहीं प्रतिबिंब रूप वास्तव हाँ, तो नहीं तो भी वही माया में प्रतिम्बित होने से माया विशिष्ट होकर कारण होता है यस्माद तस्माद पुरुषात नाम रूप बीज उपाधि लक्षितात् यही पुरुष से नाम रूप बीज उपाधि लक्षितात् नाम रूप का बीज है बीज की उपाधि से लक्षित होता है उपाधि हो गया लक्षण उससे लक्षित होता तो पुरुष जायते उत्पद्यते अविद्या विषयों अविद्या विषयो भिन्न पदे अविद्या कार्य जितने अविद्या विषयो ओकार है विकारभूत इसे पाठ है अविद्या विषयो विकारभूत अविद्या विषय एक टिप्पणी की अविद्या भ्रांति सिद्ध विकार रूप अविद्या विषय विकारभूत कहीं पाठ है अविद्या विषय विकारभूत होगा कार्य रूप जितने उत्पन्न होता है नाम देव अनृतात्मक वो नाम ही है नाम मात्रम भाग रूप नाम सो ध्येय हटवाच्य नाम एव नाम ध्येय मिथ्या अनृतात्मक प्राण है ये तस्मा जायते प्राण वाचारंभण विकार नाम ध्येयम अनृतम मृतिका वसित्यम विकार नाम ध्येयम वाग्नि का आलम्बन मात्र है कार्य नाम मात्र है मिथ्या कारणी सत्य है चांदी की श्रुति टीका में प्राण उत्पत्ति ऊर्धम तरी सप्राणत्व परमात्मन भविष्य इतने आशंका निवृत्त्यर्थम श्रुत्यंतर प्रसिद्धम प्राण से विशेषण माह प्राण उत्पत्ति के पहले तो अप्राण था देवदत्त के पुत्र नहीं था तो अपुत्र था पुत्र होने के बाद अपुत्र होगा तो उत्पत्ति के पहले अप्राण था उत्पत्ति के बाद तो सप्राण हो जाएगा तरी प्राण उत्पत्ति रुद्धम तरी तुम उत्पत्ति के बाद सप्राण हो जाएगा इत भविष्य इत आशंका निवृत्ति के लिए कहते प्राण वास्तव नहीं है श्रुत्यंतर प्रसिद्ध प्राण से विशेषण महा अविद्या विषय यदि इसमें प्रतीक दिया है अविद्या विषय इति अविद्या विषय इति ऐसे प्रतीक कैसे होगा अविद्या विषय पाठ होगा तो अविद्या विषय इति प्रतीक बनेगा यदि अविद्या विषय विकार भूत एक साथ होगा तो प्रत्यय क्या होना चाहिए विषय इति होना चाहिए अविद्या विषय इति इसी प्रतीक से टीका से लगता है अविद्या विषय भिन्न पद है अविद्या विषय विकारभूत परमात्मनो भविष्य नहीं अविद्या नाम ध्येय नामधेय नाम मात्र वाग मात्र न वस्तुवृत इत्यर्थ नामधेय नाम मात्र नाम है वाणी शब्द है शब्द मात्र वास्तव नहीं है प्राणादि तस्मा जायते प्राणो मन इंद्रिय फिर आकाश भूत है तो भूत आकाश आदि पांच भूत उत्पत्ति के पहले प्राण उसके बाद मन उसके बाद इंद्रिय से उत्पत्ति होती है प्राणादिना पाठक्रम वयम अर्थक्रमेण बाध्यते अर्थक्रम पाठक्रमाद बलियान पाठक्रम के अपेक्षा अर्थक्रम बलवान है अग्निहोत्रम जुहोति यवागुम पचती वेद माया नहीं नहीं अग्निहोत्रम जुहोति यवागुम पचती अग्निहोत्र हवन करता है करे यवागु पकाए तो अग्निहोत्र करने के बाद यवागु पकाना क्या खाने के लिए तो ये अभाग पकाना है अग्निहोत्र करने के लिए तो पाठ क्रमतः तो पहले अग्निहोत्र करे उसके बाद यवाग पचाए पकाए किंतु पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान है अर्थक्रम बलवान होने से पहले यवाग पका करके उसके बाद अग्निहोत्र वन करना चाहिए पाठक्रम अर्थक्रम पाठक्रमाद बलियान बलवत्तर है इसलिए यहाँ भी पाठक्रम अर्थक्रम से बाधित तो हो जाता है पाठक्रम अयम अर्थक्रमेण बाध्यते प्राण मनत भूत उत्पत्ति के बाद सत्वंश से अंतकरण बनेगा पंचीकृत भूत समष्टि सत्वंश से प्राण बनेगा रजवंश से इसलिए ये यहाँ बाधित तो भूत उत्पत्ति के बाद प्राणादि है और गता कला पंचदश प्रतिष्ठा भूतेषु लय श्रवणेन ये प्राणादि कला की पंचदश कला प्रतिष्ठा गता प्रतिष्ठा में लीन हो गई मुंडो को मुंडसद आएगा तो प्राणादि कला प्रतिष्ठा में अपने अपने भूत में लीन हो जाते हैं इति सु लय श्रवण न प्राणादि का कलाओं का लय भूत में श्रुति में कहा गया कारण में ही कार्य का लय होता है भूत में लय होता है तो प्राण भी भौतिक है लय श्रवणाद भौतिक तो अवगमात प्राणादि भौतिक हुआ भूत का कार्य तभी तो कारण में भूत में लीन होगा प्राण का लय प्रतिष्ठा भूत में लय कहने से प्राणादि भौतिक हो गया भौतिक होने के कारण भूतोत्पत्ति के बाद ही उनकी उत्पत्ति होगी भूतोत्पत्ति अनंतरम प्राणोत्पत्ति द्रष्टव्या द्रष्टव्या दृष्टव्या नहीं क्या लिखा दृ लिखा है क्या और हाँ, कोई कोई द्रव को द्री पढ़ते हैं ना <laughs> ब्रज को ब्रिज कहेंगे प्रणव को प्रणव द्रष्टव्या दृष्टव्या नहीं प्राणोत्पत्ति समझनी चाहिए भाष्य में नहीं तेन अविद्या विषेण अनुतेन प्राणेन तुम पर साध अपुत्र से स्वप्न दृष्टि सपुत्र तुम अविद्या का विषय हो गया प्राण अविद्या विषयण प्राणेन अविद्या का जो कार्य है प्राण अविद्या विषयण अनृत मिथ्या है मिथ्या प्राण से ब्रह्म सप्राण हो जाएगा मिथ्या प्राण से सप्राण हो जाएगा परस्य नहीं है सप्राण तुम सद अपुत्र से कोई व्यक्ति अपुत्र है सपने में देखा पुत्र है अभी सपुत्र हो जाएगा ना नहीं जगने के बाद अपुत्र से सपन दृष्टि नहीं पुत्रेण सपुत्रत्व जैसे अपुत्र का सपन दृष्ट पुत्र से सपुत्रत्व नहीं भवती इसी प्रकार अविद्या विषयण प्राणेन ब्रह्मण सप्राणत्व नहीं भवती अविद्या कार्य प्राण से सप्राण तो नहीं होगा एवं मन सर्वाणी इंद्रिया विषयाश्च तस्मा जायते प्राण मन इंद्रिय और सब विषय इसी ब्रह्म से माया विशिष्ट चेतन से उत्पन्न होते हैं तस्मा सिद्धम अस्य निरुपचरितम अप्राणादिमत्व इत्यर्थ इसलिए ब्रह्म में मुख्य निरुपचरित उपचरित गौण निरुपचरित मुख्य है गौण नहीं अप्राणादिमत्व साक्षात जो कहा गया ठीक है मुख्य ही है यथा च प्राग उत्पत्ति परमार्थ तो असंत तथा प्रलीनाशीति दृष्टव्या उत्पत्ति के पहले परमार्थ तो है नहीं प्राणादि नहीं लीन होने के बाद ही नहीं है यथा कर्णानि मनश्च तथा शरीर विषय कारणानि भूतानि यथा कर्णानि सर्वेन्द्रियाणि ये तस्मा जायते इंद्रिय भी उत्पन्न होते मनश्च इंद्रियाणि यथा कर्णानि मनश्च इंद्रिय और मन भी तथा शरीर विषय विषय कारणानि भूतानि शरीर और विषय का कारण शरीर भी भौतिक है विषय भी भौतिक पदार्थ है शरीर और विषय के कारण भूत ही उत्पन्न होते हैं भूतानि भूत कौन है कम वायु इत्यादि खम आकाशम वायुर्बाह्य आवहादि भेद बाह्य वायु है क्योंकि प्राण कह दिया पहले प्राण को तो अलग से कहेंगे तो पहले वायु की उत्पत्ति पांच भूत की उत्पत्ति उसके बाद प्राण आदि तो बाह्य वायु आवहादि भेद आवह प्रवह विवह परावह उद्वह संवह परिवह साते आ आ आप्रविपरा आप्रविपरा उत्संगपरी आप्रविपरा परि लिखा है वह जोड़ देना आप्रविपरा परी आ वह जो आवह प्रवह विवह परावह उद्वह संवह परिवह साथ हो जाएगा विपरा उत्सम परी याद हो जाएगा ना आप विपरा उत्सम परि उत्सम परी क्या है हाँ सात एक गण का नाम हो जाएगा याद आव स्वामी बह बह जोड़ देना आवह प्रवह विवह परावह उद्वह संवह परिवह यह आव आदि भेदा टीका में अभिमुखम आगच्छन वायु आवह सामने आता है तो आवह पूरत गच्छन पीछे जाता है तो पूरत गच्छन प्रवह इत्यादि भेद है शब्द स्पर्श रूप रसगंधा अच्छा भाष्य में पहले ज्योतिरग्नि वायु ज्योति का अग्नि आप उदकम पृथ्वी धरित्री पृथ्वी विश्व से सर्व से धारिणी विश्व का तो सर्व सब का धारिणी आश्रय एकता च शब्द स्पर्श रूप रस गंधो उत्तरोत्तर गुणानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच उत्तरोत्तर गुणानी आकाश में शब्द वायु में स्पर्श विशेष है और शब्द भी आ जाएगा रूप तेज में शब्द स्पर्श रूप इस प्रकार पूर्व पूर्व गुण सहितानी उत्तर उत्तर गुण है शब्द के बाद स्पर्श रूप और गंध एक एक गुण है आकाश वायु तेज आदि और प्रत्येक में पूर्व पूर्व गुण सहितानी ये तस्मादेव जायते गुण सहित भूत उत्पन्न होते हैं टीका में शब्द स्पर्श रूप और गंधा उत्तरोत्तर से गुणा शब्द के बाद वायु का गुण स्पर्श तेज का रूप इस प्रकार ये शाम तानी तथोक्तानी उत्तरोत्तर गुणानी इसे कहा गया उत्तरोत्तर से गुणा ये शाम शब्द स्पर्श आदि गुण जिनका है यथा शुक्ल तंतु अवस्थापन्नाद अन्वय कारण जायमान पट शुक्ल गुण जायते शुक्ल तंतु अवस्थापन्न शुक्ल तंतु से अवस्थापन रुई है अन्वय कारणाद अन्वयी संबद्ध कारण अन्वय होता है तुलादि टिप्पणी में अनुगत तुलात्मकार शुक्ल तंत्र रूप से अन्वयी होता है तुल रुई वही कारण है पहले शुक्ल तंतु बन गया तो तंतु अवस्था को प्राप्त हुए रुई कारण से पट बनेगा जायमान पट कैसा रूप होगा शुक्ल गुण जाए थे तथा आकाशावस्थापनाद ब्रह्मणो जायमान वायुर आकाश न शब्द न अनित जायते पहले ब्रह्म से आकाश उत्पन्न शब्द गुण वाला आकाश ब्रह्म से उत्पन्न होगा वायु तो वायु जो उत्पन्न होगा आकाश अवस्थापन्न ब्रह्म से वो तो आकाश अवस्थापन्न ब्रह्म कौन से उसमें शब्द गुण है जब वायु उत्पन्न होगा आकाश गुणेन शब्देन अनित जायते आकाश गुण शब्द से संबद्ध होकर के रुई से तंतु बन गया शुक्ल तंतु उसे पट बनेगा तंतु में जो गुण था शुक्ल वर्ण वो पट में आ जाता है इसी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न हुआ पहले आकाश आकाश भावापन्न ब्रह्म से उत्पन्न होगा वायु तभी ब्रह्म सब का कारण होगा वायु की उत्पत्ति ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति ब्रह्म से तो आकाश से वायु का अर्थ आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति तो वायु आकाश गुण से शब्द से अन्वित होकर उत्पन्न होता है तथे वायु भावापन्नाद ब्रह्मण अग्नि वायु से अग्नि की उत्पत्ति कही गई तो वायु भावापन्न ब्रह्म से अग्नि की उत्पत्ति जो उत्पन्न होगा वायु के गुण से अन्वित होकर के तदगुण न तत्पसी क्या लेना हाँ वायु के गुण ने क्या न गुण न स्पर्श न अन्वित जायते जायते क अग्नि जायती थी दृष्टव्य इसी प्रकार अग्नि को भावापन्न ब्रह्म से किम जायते जल तेन गुणे नित केन गुणे तो है रूप गुणे न रूप गुणे तो जल इसी प्रकार जल भावापन्न ब्रह्म से जायते किम पृथ्वी तेन गुणे नितम हाँ रसगुण तो जल का तेज का भी है रूप वायु का स्पर्श आकाश का शब्द सब गुण से मिल करके पांच गुण होकर के पृथ्वी ननु गंध अपना गुण है ननु सूक्ष्माणी भूतानी प्रथम उत्पद्यन्ते अनंतरम तासाम त्रिभुतम त्रिभुतम एकेकाम अकरुदिति पंचीकरण उपलक्षणार्थम त्रिवृतकरण श्रुते है पंचात्मकत्व अवगम्य थे पहले तो सूक्ष्म भूत की तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है अपंचीकृत भूत की उसके बाद अनंतरम तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एक एक काम करवाणी श्रुति माया परमात्मा ने एक एक को तीन तीन कर दिया पृथ्वी जल तेज तीनों की उत्पत्ति कही गई चांदोग्य में तो उनको त्रिवृत कर्ण हुआ त्रिवृत कर्ण पंचीकरण का उपलक्षण क्योंकि तैतृ उपनिषद में पांच भूत की उत्पत्ति कही गई तो पंचीकरण का उपलक्षण से त्रिवृत कर्ण श्रुते त्रिवृत कर्ण श्रुति से सारे भूत पंचात्मक पहले उत्पत्ति हुई सूक्ष्मभूत अपंचीकृत पंचीकरण हुआ पंचीकरण होने से अभी जो पृथ्वी है उसमें आधा भाग पृथ्वी बाकी आधा भाग में जल तेज वायु आकाश है जो अभी तेज है आधा तेज है बाकी पृथ्वी जल वायु आकाश है इस प्रकार सौर पंचात्मक सौभूत है तथा एक एक से भूत से पंच गुणवत्व वर्णितम तो पृथ्वी में पांच गुण रहेगा शब्द है पृथ्वी में क्या शब्द हो पंचदेश में भूमि कड़कड़ा और स्पर्श है क्या शब्द काठिन्य और जल में शब्द है जलो गुलु गुलु ध्वनि ध्वनि में ध्वनि शब्द क्या है भुग भुग तो सब में पांच गुण है सब एक एक से से पंच गुणवत्व कहा गया अन्यत्र कतम यह पंचीकरणम अनादृत्य प्रथम सर्ग एव आकाश से एक गुणत्व वायु द्विगुणत्व तेजस त्रिगुणत्व आदि उच्यते पंचगुण में तो कहा वो अन्यत्र कहा गया जैसे उसी प्रकार सब में पांच गुण है यहाँ पंचीकरण का अनादर करके पहले सृष्टि में ही आकाश में एक गुण कहा वायु में दो गुण तेज में तीन गुण कैसे वायु में दो गुण ते, तेज में त्रिगुण होगा अपंचीकृत हो तो पंचीकरण होने पर सब में पांच होना चाहिए कैसे कहा गया ये शंका होने पर उत्तर देते सत्यम भूत सर्ग तात्पर्य अभाव अभाव द्योतनाय प्रक्रियांतरण विरुद्ध दे भूत की सृष्टि में यदि तात्पर्य होता श्रुति का तो जैसे सृष्टि कही गई इसे ही कहना चाहिए सृष्टि में तात्पर्य नहीं होने से किसी प्रकार कह दिया नाम ले लिया कल्पना हुई इतने कल्पित वस्तु है आकाश आदि भूत की वास्तव सृष्टि है ही नहीं शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान कराने के लिए ही कार्य कारण से भिन्न नहीं और जितने सब प्रपंच है सब कार्य कारण रूप ही है कारण से अलग नहीं ऐसा करके सारे प्रपंच जो दिखता उसका सब का कारण उसको जानना है ब्रह्म को ज्ञान कराने के लिए आकाश आदि की सृष्टि कही गई सृष्टि में तात्पर्य नहीं श्रुति का इसको प्रकट करने के लिए प्रक्रिया अंतरम ये एक प्रक्रिया बता दिया ये तस्मा थे प्राण मन सर्व इंद्रिया नीचे वायु आदि कोई विरोध नहीं क्योंकि सृष्टि का सृष्टि में तात्पर्य क्यों नहीं सृष्टि वाक्य सुनकर के कोई फल कहीं नहीं कहा गया आकाश आदि सृष्टि को जो जानता है ऐसे फल प्राप्त करता है ऐसा नहीं कहा गया नहीं ये प्रतिबद्ध प्रतिबद्धम किंचित फलम श्रूयते ये तत्त प्रतिबद्ध संबद्धम एक सृष्टि के संबद्ध कोई फल सृष्टि जान करके इसी क्रम से सृष्टि हुई ऐसे पंचीकरण हुआ ऐसे जानने से कोई फल मिलता स्वर्ग आदि वा ज्ञान वा ऐसे तो नहीं श्रुति में कहा गया अतएव गुण गुणी भावोपि न वैशेषिक पक्ष व्यवशेष अर्थात सृष्टि में तात्पर्य नहीं है फलवत सन्निधा व फलम तदंगम फलवत सन्निधो अफलम तद अफलम कर्म फलवत सन्निधि उसका अंग हो जाता है दर्श से क्या फल बताया दर्श पूर्णमासाभ्याम योजित स्वर्ग काम उसके पास प्रयाज पाँच तीन आज का विधान किया गया जिसका कोई फल नहीं कहा गया अफल होने से दर्श पूर्णमास का अंग है यहाँ ब्रह्म ज्ञान है प्रकरण ब्रह्म ज्ञान से तरती शोकम ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती तो क्षयते चाष्य कर्माणी तस्वीन दृष्टि बराबर है ब्रह्म ज्ञान का फल कहा उसके सन्निधि में जो सृष्टि वाक्य है अफल तदंगम ब्रह्म ज्ञान के लिए साधन अंग रूप से सृष्टि वाक्यों का विनियोग होता है इसी क्रम से कार्य की उत्पत्ति सुन करके और कार्य कारण से अलग नहीं है सब का कारण एक ब्रह्म जिसके ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाएगा और कार्य मिथ्या है सब का निषेध करेंगे अंत में जिनका निषेध करना है उनको पहले बताने के लिए सृष्टि वाक्य सब का निषेध करेंगे तो अधिष्ठान रहेगा कारण सर्व कारण इसलिए सृष्टि में तात्पर्य नहीं है इसे क्योंकि उसके लिए कोई फल नहीं कहा गया अतएव गुण गुणी भाव अपनी वैशेषिक न्याय के लोग कहते द्रव्य है गुणी उसमें रहेगा गुण गंध गुण पृथ्वी में जल में रूप रस गंध स्पर्श आदि गुण है पृथ्वी में ये जो गुणगुणी भाव वैश्य पक्षवत यहाँ नहीं विवक्षिता नहीं है गुणगुणी भाव कुछ नहीं तो ये सब गुण वाला पृथ्वी गंध गुण जल में रसगुण ये कैसे कहा गया किंतु राहु शिर इतिवत व्यपदेश मात्रम राहु का सिर सिर भाव का नाम राहु है और सिर भाव का नाम राहु तो राहु का सिर क्या है राहु ही सिर है सिर ही राहु है तो भी राहु का सिर ऐसे कहा जाता है शब्द प्रयोग होता है इसलिए यहाँ गुण गुणी भाव वास्तव नहीं है वेदांत मत में कारण में कार्य कल्पित है गुण रूप प्रसाद भी द्रव्य में कल्पित द्रव्य से अलग है ही नहीं द्रव्य में जो गुण रूप प्रसाद है गुण द्रव्य से अलग नहीं तार्किक लोग मानते द्रव्य अलग गुण अलग कर्म अलग वेदांत मत में द्रव्य भी स्वयं सावैव द्रव्य सत्य नहीं है मिथ्या है कल्पित है अधिष्ठ अपने अवय में अवयव अपने कारण में ऐसे करके सर्व कारण में सारे कार्य सब अध्यस्त है द्रव्य भी कल्पित है गुण भी कल्पित है कर्म भी कल्पित है इसलिए गुणगुणी भाव भी विवक्षित नहीं है विस्तरण तो अंत्य कार्य पर्यतम तेन तेन आकार न ब्रह्म विवर्तते थी प्रपंचते विस्तार के साथ विस्तार करेंगे अंत्य कार्य पर्यतम अंत्य जो कार्य जितने कार्य है सब तेन तेन आकार ब्रह्म विवर्तते ब्रह्म ही तत्व रूप से दिखता है अत तत्व अत यस तात्विक अन्यथा भाव परिणाम उदृत अतात्विक अन्यथा भाव विवर्त स उदृत अतात्विक अन्यथा भाव जैसे रज में सर्प दिखते समय रज ही सर्प हो जाती है रज ही सर्प रूप धारण कर लेती अतात्विक अन्यथा भाव विवर्त है इसी प्रकार यहाँ जो प्रपंच दिखता है ब्रह्मेव विवर्तते न कारण अंत्य कार्य पर्यत जितने कार्य सब ब्रह्म ही विवृत होता है विवर्तते यदि प्रपंच विस्तार करते ततो अतिरिक्त अणुमात्र संभवात अस्मिन विज्ञाते सर्वमिदम विज्ञात होती प्रदर्शनार्थम इत्यर्थ सब कारण सब का कारण ब्रह्म है ब्रह्म से भिन्न क्या पदार्थ है तत्व अतिरिक्त से अणुमात्र से असंभवाद अणुमात्र भी ब्रह्म से भिन्न नहीं हो सकता है तभी तो सर्व खलु इदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम ये सार्थक होगा अणुमात्र भिन्न नहीं अनंत ब्रह्म अणुमात्र भिन्न नहीं होने से भी विज्ञात है ब्रह्म के ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाएगा सर्व इदम ज्ञात होती क्योंकि सर्व ब्रह्मात्मक है ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं तो ब्रह्म के ज्ञान से सब विज्ञात हो जाता है इसको दिखाने के लिए ही सृष्टि वाक्य है वस्तुतः तो सृष्टि में तात्पर्य नहीं है भाष्य में संक्षेपतः पर विद्या विषय अक्षरम पर विद्या का विषय ब्रह्म अक्षर सा पराया तद अक्षरम अधिगम्य थे पर विद्या ब्रह्म विद्या उसका विषय अक्षर ब्रह्म निर्विशेषम पुरुषम सत्यम वही दिव्य है अमृत इत्यादि ना मंत्रेण उक्त दिव्य ही अमृत पुरुष पहले कहा कह करके पुनस्तदेव सविशेषम विस्तर न वक्तव्यमिति उसी ब्रह्म को विशेष के साथ आकाश आदि उत्पत्ति हुई विस्तार से कहने के लिए प्रवृत्ते श्रुति प्रभु तो होती है संक्षेप विस्तर तो ही पदार्थ सुखाधिगम्य भवती सूत्र भाष्य उक्तिवदिति कोई पदार्थ को पहले संक्षेप से कहा फिर विस्तार किया संक्षेप विस्ताराभ्याम उक्त अर्थ पदार्थ सुखाधिगम्य होती सुख अधिगम्य संक्षेप से कहा समझ लिया फिर विस्तार से करो तो सुख से ज्ञान होता है वास्तव तो क्या है स्पष्ट हो जाए अंत में संक्षेप कह दिया उप, उपक्रम उपसार दे करके अर्थ निश्चय होता है फिर विस्तार होता है सुखाधिगम्य भवती सूत्र भाष्य उक्तिवत जैसे सूत्र है संक्षेप है सूत्र भाष्य होगा उसका विस्तार सूत्र संक्षेप से उसका फिर विस्तार होता है अर्थ स्पष्ट हो जाता है इसी प्रकार कुछ कहना है तो पहले संक्षेप से उसको बता दिया फिर उसका विस्तार करो कोई कोई बोलते समय इतने विस्तार करेंगे जो बोलना चाहते वो भी छूट जाएगा बोलते बोलते आगे इधर उधर करते करते फिर कहाँ से कहाँ पहुँच गए कोई प्रश्न पूछा उसका उत्तर देने के लिए उसको छोड़ करके और कुछ बोले बोलते बोलते फिर कहाँ चले गए पूछने वाला सोता हमारा उत्तर कब मिलेगा तो वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे फिर दूसरे बार बीच में कहेगा प्रश्न करेगा वैसे मैं बोलता हूँ बोलता हूँ कर कह करे फिर अपने ऐसा नहीं जितने प्रश्न है पहले उसका उत्तर प्रश्न का उत्तर होना चाहिए क्या पूछे उसको समझ कर उत्तर देना चाहिए कुछ पूछा और कुछ दूसरे कहने लगा सूत्र संक्षेप से कह करके उसका विस्तार होता है भाष्य तो स्पष्ट होता है सूत्र भाष्य सूत्र भाष्य सूत्र के अपेक्षा भाष्य में विस्तार होता है सूत्र संक्षेप होता है वो जैसे कथन करने से और पदार्थ का बोध सरल से होता है इसी प्रकार संक्षेप से पहले कहा दिया जो पर विद्या का विषय कह करके दिव्य अमृत पुरुष सभा अभ्यंतर है जो कह दिया उसका विस्तार से कहने के लिए आर श्रुति आरंभ प्रवृत्त होती है समय हो गया ओम भद्रं कर्णे भी शुणुयाम देवा